ग्रेवाल साहब की अनाउंसमेंट सुनते ही यहां पर मौजूद सभी गेस्ट काफी रोमांचित हो उठे इसकी मां का उधर विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया हालांकि उसे इस बात का अंदाजा पहले से ही था कि नैना के डैड उसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने देंगे लेकिन ये उम्मीद तनिक भी नहीं थी कि वो इस तरह का मजाक भी उसके साथ कर सकते हैं अब विक्रांत स्पॉटलाइट के फोकस में आ चुका था विक्रांत सक पकाया हुआ नजर आ रहा था उसके चेहरे का भाव अचानक से बदल चुका था अब उसके पास यहां से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं था ऐसे में उसे मजबूरन गेस्ट के सामने मुस्कुराते हुए खड़ा होना पड़ रहा था मजबूरन उसे लोगों के सामने ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है जैसे कि उसने खुद ही अपना नाम फाइट के लिए दिया हो जबकि वहां पर मौजूद अन्य गेस्ट विक्रांत का हौसला बढ़ाते हुए जोर जोर से ताली बजाने में लगे हुए थे लेडीज एंड जेंटलमैन ग्रेवाल साहब ने अपने हाथ में माइक लेकर बोलते हुए कहा डिटेक्टिव विक्रांत हर मामले में मास्टर हैं हर वक्त वो सेंट्रल सीआईडी की टीम में टीम लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं अब तक ना जाने कितने क्राइम केसेस सॉल्व करके मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं मुझे आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मिस्टर विक्रांत न सिर्फ क्राइम केस सॉल्व करने के मास्टर हैं बल्कि वो ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स के भी मास्टर हैं और आज उन्होंने खुद सन ग्रोव के साथ फाइट करने की इच्छा जाहिर की है पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जबकि विक्रांत अपने गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था वो भी मुस्कुराता हुआ अपने हाथ से ताली बजाए जा रहा था इस वक्त अगर वो फाइट करने से मना कर देता है तो यहाँ पर लोगों के बीच उसका मजाक बन जाएगा ऐसे में इस सिचुएशन में विक्रांत बिल्कुल मजबूर नजर आ रहा था उसने नैना की तरफ देखकर उसका रिएक्शन जानने की कोशिश की लेकिन नैना तो यहाँ पर उसके बगल में खड़ी कुछ उस तरह से ड्रिंक का आनंद ले रही थी जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसे यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस फाइट में मैं खुद 20 लाख रुपए विक्रांत के ऊपर लगा रहा हूँ इस अनाउंसमेंट के साथ ही ग्रेवाल साहब ने माइक वहां पर खड़े होस्ट को पकड़ा दिया लेडीज एंड जेंटलमैन फाइट बस अब शुरू होने ही वाली है होस्ट ने माइक पर चिल्लाते हुए कहा the big detective challenges Sungrove ये great fight guys great fight host का अनाउंसमेंट सुनने के बाद यहाँ पर मौजूद गेस्ट्स काफी रोमांचित हो उठे सब अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से इस फाइट पर पैसे भी लगाने लग गए जाहिर है कि विक्रांत के ऊपर कोई भी अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहता था पहली बात तो सनग्रोव का नाम यूएफसी के टॉप फाइटर्स में आता है और यहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी फाइटिंग स्किल से भली भांति वाकिफ थे उन्हें पता था कि इस फाइट में विक्रांत का सनग्रोह के आगे ज्यादा देर तक टिके रहना भी मुश्किल है विक्रांत के लिए तो अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाएगा सनग्रोव जैसे वर्ल्ड लेवल के फाइटर के आगे विक्रांत जैसे मामूली पुलिस वाले का खड़ा होना भी मुश्किल है सही मायने में लोगों के लिए इस फाइट को देखने का मकसद सिर्फ ये जानना था कि सनग्रोव के आगे एक मामूली पुलिस वाला कितनी देर तक टिका रह सकता है शायद इसीलिए यहाँ पर मौजूद सभी लोग अपना दाव सिर्फ सनग्रोव पर ही लगा रहे थे कोई भी विक्रांत के ऊपर पैसे लगाने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था दूसरी चीज किसी को ये भी शक नहीं हो रहा था कि मिस्टर ग्रेवाल ये फाइट फिक्स कर सकते हैं क्योंकि अगर ग्रेवाल साहब अपने फ्यूचर सन इन लॉ को फाइट में जिताने के लिए सनग्रोव को घूस देते हैं तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है सनग्रोव जैसे फाइटर के लिए आज पैसे से ज्यादा अपनी इमेज की कीमत है क्योंकि अगर वो पैसे लेकर ये फाइट हार जाता है तो फिर फाइटिंग की दुनिया में उसका नाम खराब हो जाएगा एक मामूली से पुलिस वाले से हारने का धब्बा उसके फाइटिंग करियर को बर्बाद कर सकता है ऐसे में किसी भी हालत में सनग्रोव पैसे लेकर मैच फिक्स करने की गलती नहीं करेगा कुल मिलाकर आज विक्रांत की जान खतरे में थी क्योंकि सनग्रोव से भिड़ने के बाद उसकी कितनी हड्डियां सही सलामत रहेंगी इसके बारे में किसी को नहीं पता है विक्रांत बेटा इधर आओ इधर गिरेवाल साहब ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ चलने के लिए कहा अब तुम अपनी ताकत दिखाओ सबको मुझे पता है तुम बहुत साहसी हो पीठ दिखाकर नहीं भागोगे इसलिए बेटा आज इस फाइटिंग का रिजल्ट चाहे कुछ भी आए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा ओ थैंक यू ससुर जी विक्रांत ने व्यंगात्मक लहजे में जवाब दिया वो ये बात अच्छे से समझ रहा था कि इस वक्त गिरेवाल साहब उसका मजाक बना रहे हैं इंसान जो करता है उसका फल उसे ही भुगतना पड़ता है ग्रेवाल साहब ने धीरे से विक्रांत के कान के पास जाकर बुदबुदाया ताकि उसके अलावा कोई भी उसकी बात ना सुन सके फिर उन्होंने अपना दांत पीसते हुए कहा बच्चे अभी भी मैं तुम पर रहम खाकर तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ ड्रेसिंग रूम का पीछे वाला दरवाजा खोल देता हूँ जान प्यारी है तो चुपचाप वहां से भाग जा और फिर दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना <laughs> विक्रांत ने हंसते हुए जवाब दिया ससुर जी आपने अपने दामाद को इतना कमजोर समझ लिया है क्या वैसे आपने वहाँ रेस्टोरेंट में ठीक ही कहा था मुझे क्या गिरेवाल साहब ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा रोड छाप बदमाश <laughs> मैं आपको बता रहा हूँ मैं सच में रोड छाप बदमाश हूँ और पता है आपको आपकी सबसे बड़ी गलती मुझसे पंगा लेना है वहाँ रेस्टोरेंट में भी आपको हार के भागना पड़ा था और अब यहाँ पर भी यही होने वाला है लेकिन अब यहाँ से हार कर कहाँ भागोगे क्या मतलब तुम्हारा विक्रांत की बात सुनकर ग्रेवाल साहब बेहद कंफ्यूज नजर आ रहे थे वो विक्रांत से कुछ और बात भी करना चाहते थे लेकिन तभी वहां पर ड्रेसिंग के स्टाफ मेंबर्स पहुंच गए ऐसे में ग्रेवाल साहब को ना चाहते हुए भी वहां से भागकर आना पड़ा ग्रेवाल साहब वहां से लौटकर वापस ऊपर बने स्टैंड पर पहुंच गए तभी वहां पर एक अधेड़ उम्र के शख्स ने उन्हें रोक कर कहा आज आपको हुआ क्या है ग्रेवाल साहब आप अपनी बेटी के हस्बैंड को ही मारने का प्लान बना रहे हैं क्या ये सब क्या है आप ये क्यों कर रहे हैं हाँ वही तो मैं भी सोच रही थी तभी वहां पर मौजूद एक दूसरी औरत ने कहा भले ही ये सब मजाक है लेकिन फिर भी ये किस तरह का मजाक है आप किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने दामाद के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और आपकी इस हरकत पर आपकी बेटी क्या सोच रही होगी वो भला क्या कहेगी फिर वहां पर मौजूद सफेद सूट वाले एक शख्स ने कहा आपने इतने बड़े वर्ल्ड चैंपियन को मामूली से आदमी से भिड़ा दिया आपको सनग्रोव की फाइट करवानी ही है तो फिर किसी और के साथ उसका फाइट करवा दीजिए ऐसा कर लेते हैं कि अविनाश का ही सनग्रोव के साथ कंपटीशन करवा दीजिए इन लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को भी ग्रेवाल साहब का ये फैसला पसंद ही नहीं आ रहा था ग्रेवाल साहब उन लोगों को समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक से वहां पर एक हाउस कीपर भागता हुआ पहुंच गया वो ग्रेवाल साहब से कुछ कहना चाहता था लेकिन उनके पास और लोगों को खड़े देखकर वो कुछ कह नहीं सका ऐसे में ग्रेवाल ने उन लोगों से दूर हटकर उससे सवाल किया क्या हुआ सर वो वो सनग्रो ने लड़ने से इनकार कर दिया हाउसकीपर ने हाफते हुए कहा जब उसने सुना कि ईशियन की जगह कोई दूसरा उससे लड़ने वाला है तो वो भी काफी नाराज हो गया उसने लड़ने से मना कर दिया है वो किसी भी अनजान आदमी के साथ नहीं लड़ेगा वो बोल रहा है कि यहाँ उसकी इंसल्ट की जा रही है और फिर जब उसको ये पता चला कि उसका ओपोनेंट आपका रिलेटिव है तो फिर वो और ज्यादा नाराज हो गया ग्रेवल साहब ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा ओके ठीक है उसे जाकर कह दो कि इस फाइट के लिए मैं उसे बीस लाख और दूंगा मैं उसे ये भी कहना चाहता हूँ कि फाइट में अपनी पूरी ताकत लगा दे किसी भी हालत में ये फाइट हारना नहीं है और अगर उसने विक्रांत की हड्डियां तोड़ी तो मैं उसे हर हड्डी का एक लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा लेकिन सर हाउसकीपर ने कंफ्यूज होते हुए कहा कोई इफ बट नहीं जैसा कह रहा हूं मैं बस वैसा ही करो गिरवाल साहब ने गुस्से में आकर लगभग चिल्लाते हुए कहा मैं इस बार इसे सबक सिखा कर छोड़ूंगा हाउसकीपर की अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो ग्रेवाल साहब को कुछ जवाब दे सके ऐसे में वो भागता हुआ सनग्रोह को मनाने के लिए भाग पड़ा विक्रांत आज तेरी औकात देख लेता हूं मैं देखता हूं कितनी हिम्मत है ग्रेवाल साहब ने अपना दांत पीस कर बुदबुदाते हुए कहा देखते हैं कैसे बचकर जाते हो तुम